भला क्या ऐसा शख्स उसके बराबर हो सकता है जो रात की घड़ियों में इबादत करता है कभी सजदे में कभी कयाम में आखिरत से डरता है और अपने परवरदिगार की रहमत का उम्मीदवार है कहो कि क्या वो जो जानते हैं और जो नहीं जानते सब बराबर है मगर नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हैं